और हक वही है जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से आया है लिहाजा शक करने वालों में हरगिज शामिल ना हो जाना